कटे हुए हाथ क्या हुआ साहब कुछ काम की चीज मिली आपको दरवाजे के पास खड़ी आशिमा की मां ने विक्रांत से सवाल किया कुछ पता लगा कि मेरी बेटी की उंगली किसने काटी थी कौन था इसके पीछे विक्रांत अभी भी चकित होकर उस डॉक्यूमेंट्स को देख रहा था उसने बेहद सावधानी से डॉक्यूमेंट में लिखी एक एक बात और एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश की फिर उसे जाकर यह कंफर्म हो गया था कि आशमा का अगला टारगेट रश्मि ही है दरअसल रश्मि जब बहुत छोटी थी तभी उसके माँ बाप की डेथ हो गई थी उसके बाप का अच्छा खासा कपड़ों का बिजनेस था लेकिन जब उनकी डेथ हो गई तो फिर उसके रिलेटिव्स ने किसी तरह से धोखाधड़ी करके सारा बिजनेस लूट लिया था और फिर कुछ दिन बाद ही उसकी माँ की भी मौत हो गई थी जब रश्मि पांच छह साल की थी तभी उसके माँ बाप दोनों चल बसे थे रश्मि को उसके पापा के दोस्त पीटर अंकल ने पाला था रश्मि अपने पीटर अंकल से बहुत प्यार करती थी और वो भी रश्मि को अपनी बेटी की तरह मानते थे पीटर अंकल की कोई संतान नहीं थी इसलिए उन्होंने रश्मि को अपने बच्चे की तरह पाला था अभी दो तीन साल पहले ही पीटर अंकल की डेथ हो गई थी उस वक्त भी रश्मि ऑस्ट्रेलिया में थी और तब वो तुरंत भागकर यहां आई हुई थी पीटर अंकल की डेथ के बाद से वो कभी इंडिया वापस नहीं लौटी थी अब आशिमा ने उन्हीं पीटर अंकल का इस्तेमाल करते हुए रश्मि को वापस इंडिया बुलाने का प्लान बनाया हुआ था उसने रश्मि के पास झूठा मैसेज भेज दिया कि पीटर अंकल की समाधि का पत्थर टूट गया है उसने रश्मि को उस टूटे हुए पत्थर की फोटोज भी भेजी हुई थी ताकि उसे तुरंत यकीन हो जाए पीटर अंकल रश्मि की कमजोरी है वो अपने अंकल के लिए कुछ भी कर सकती थी इसलिए आशमा को पूरा विश्वास था कि रश्मि पीटर अंकल की समाधि के टूटने की बात सुनकर उसे रिपेयर करवाने के लिए भागते हुए इंडिया आएगी क्योंकि यहां इंडिया में भी अब कोई उसे इस तरह से जानने वाला नहीं था जो कि उसका काम कर सके और सबसे बड़ी बात अब पीटर अंकल की बरसी भी होने वाली थी इस वजह से भी रश्मि को इंडिया आना ही था डॉक्यूमेंट में पड़ी सारी इंफॉर्मेशन जानने के बाद विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक गई मतलब इस लड़की ने अपने टारगेट को खुद के पास आने के लिए मजबूर कर दिया बेशक रश्मि अकेले ही इंडिया आएगी और फिर आशिमा उसके साथ भी ठीक वैसा करेगी जैसा उसने पहले दो विक्टिम के साथ किया था आज डेट है 26 अप्रैल कहीं रश्मि इंडिया पहुंच तो नहीं चुकी है और आशिमा उसका हाथ काटने के लिए निकल तो नहीं चुकी है ओह oh, शिट कैसे भी करके उसे रोकना होगा विक्रांत ने तुरंत ही अपने जेब से फोन निकालकर सुनिधि को फोन करके उससे सारी बात बतानी चाहिए लेकिन तुरंत ही उसे एहसास हुआ कि क्या पता अब तक आशमा रश्मि का हाथ भी काट चुकी हो और अभी तो ये भी नहीं पता कि रश्मि और आशिमा कहाँ पर हैं। इतने कम समय में उसे ढूंढेंगे कैसे और ऐसे बिना कुछ पता किए इधर उधर भागने का भी कोई मतलब नहीं है इसलिए वो रुक गया और एक बार फिर से आशिमा के डॉक्यूमेंट्स पर गहरी नजर डालते हुए छानबीन करने लगा दो तीन डॉक्यूमेंट इधर उधर पलटने के बाद उसे एक कागज मिला जिसमें रश्मि की फ्लाइट का टाइम लिखा हुआ था उसकी फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर दोपहर के तीन बजे पहुंचने वाली थी विक्रांत ने तुरंत घड़ी पर नजर डाली अब तक तो शाम के साढ़े चार बज चुके थे इतनी देर में तो वो ना जाने कहा निकल गई होगी और पक्का है आशमा उसे एयरपोर्ट से ही फॉलो कर रही होगी एक घंटे में तो क्या से क्या हो गया होगा विक्रांत ने वहां एक दो और डॉक्यूमेंट्स पर नजर डाली लेकिन कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली वहां पर उसे एक वाटर गन भी मिला लेकिन विक्रांत को उसका कुछ मतलब नहीं समझ आया उसके दिमाग में रश्मि का ख्याल गूंज उठा वो वो खतरे में है उसे बचाना होगा कैसे भी करके ये सोचते हुए विक्रांत ने सारे डॉक्यूमेंट्स वहां बेड पर रख दिए और फिर फटाफट अपना फोन निकालकर एक एक की फोटो क्लिक करने लग गया पेपर्स बहुत ज्यादा थे और विक्रांत काफी जल्दी में था इस वजह से जो फोटो जैसी आ रही थी वैसे ही वो उसे अपने फोन के कैमरे में क्लिक किए जा रहा था ऐसे में किसी कागज की फोटो आधी आ रही थी तो कोई पूरी और सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटो क्लिक करना जरूरी था क्योंकि यही तो इस केस के मेन सबूत थे अचानक विक्रांत के दिमाग में एक आइडिया आया उसने सारे कागज को वहां बेड पर फैला कर रख दिया इसके बाद एक साथ सबकी फोटो क्लिक करनी चाहिए इस क्रम में कुछ कागज बेड से जमीन पर गिर पड़ा विक्रांत जमीन पर गिरे कागज को उठाने के लिए झुका तभी उसकी नजर बेड के नीचे पड़े एक प्लास्टिक के बड़े बॉक्स पर पड़ी विक्रांत को वो बॉक्स थोड़ा अजीब लगा उसने फटाफट कागज उठाकर बेड के ऊपर रखा और फिर उस बॉक्स को बाहर खींचने लगा जब उसने बॉक्स को बाहर निकालकर इसे खोला तो उसके होश ही उड़ गए दिल की धड़कनें काफी तेज हो गई चेहरे पर पड़े हल्के पसीने भी आ गए उस बॉक्स के अंदर कुछ अजीब सा फ्लूड पड़ा हुआ था और उसमें कटे हुए हाथ रखे हुए थे ये तीनों विक्टिम के कटे हुए हाथ थे जिसे आशमा और फातिमा ने काट कर रखा हुआ था विक्रांत अपराधियों के इस तरह के व्यवहार से परिचित था पहले जब वो गैंगस्टर हुआ करता था तब उसके बहुत से गैंगस्टर ऐसे ही हुआ करते थे जो इस तरह की हरकत करते थे किसी को मारने के बाद उसकी लाश कई कई दिन तक अपने साथ रखते थे ऐसा वो खुद को सुकून पहुंचाने के लिए करते थे खुद के द्वारा मारे गए व्यक्ति की लाश देखकर अपने दिल को ठंडक पहुंचती थी ज्यादातर ऐसी हरकत कोई साइको किलर ही करता था और यहां पर आशमा भी उसे साइको ही लग रही थी आखिर ये लड़की कितनी हिम्मती है इस तरह से कटे हुए हाथ को अपने बेड के नीचे रखकर सोती है मतलब उसके क्राइम का सारा सबूत उसने अपने कमरे में ही रखा हुआ था उसे डर भी नहीं लगता था क्या अचानक से विक्रांत को ध्यान आया कि आशमा की माँ दरवाजे पर ही खड़ी है अगर उसने ये सब देख लिया तो काफी दिक्कत हो जाएगी इसी डर से विक्रांत ने फटाफट उस बॉक्स को बंद किया और फिर उसे बेड के नीचे ही खिसका दिया विक्रांत उठ खड़ा हुआ और उसने बचे हुए डॉक्यूमेंट्स की फोटो क्लिक की इसके बाद वो फटाफट वहां से जाने लगा लेकिन तभी आशिमा की माँ ने फिर से उससे पूछा क्या हुआ साहब कुछ मिला नहीं क्या नहीं नहीं मुझे बहुत ज़रूरी सबूत मिला है बहुत जल्द हम उस मुजरिम को पकड़ लेंगे अच्छा आप एक काम करना इस कमरे में अभी किसी को भी जाने मत देना और इसे बंद करके रखिए ये किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए वरना आपकी बेटी की जान खतरे में पड़ सकती है क्या क्या क्यों कौन मारना चाहता है मेरी बेटी को उसने किसी का क्या बिगाड़ा है क्यों उसकी जान के पीछे पड़ा है माताजी माताजी माताजी आप परेशान मत होइए मैंने आपकी बेटी की सिक्योरिटी के लिए पुलिस फोर्स को लगा दिया है थोड़ी देर में पुलिस वाले यहाँ पर भी आएंगे और आशिमा के कमरे से कुछ जरूरी सबूत लेकर जाएंगे इससे आपको घबराना नहीं है बस जब तक ये पुलिस यहाँ नहीं आती है आप कहीं नहीं जाइएगा और ना ही किसी और को घर के अंदर आने दीजिए सब ठीक हो जाएगा बिल्कुल टेंशन मत लीजिए इतना कहकर विक्रांत फटाफट वहां से जाने लगा उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात दौड़ रही थी कैसे भी करके रश्मि को बचाना है वो फटाफट गलियों से गुजरते हुए रोड पर वापस आया और फिर अपनी गाड़ी तेजी से ड्राइव करते हुए सोच रहा था अगर आज वो टाइम पर पहुंच गया तो इस चौथे विक्टिम का हाथ कटने से बचा सकता है